Osho. Sach Sach So Sach. Question and answer talks given at Osho Commune International, Pune, India. Discourse number two. शंकराचार्य की एक प्रश्नोत्तरी इस प्रकार है कशास्ति नाशे मनसो ही मोक्षा क सर्वथा नास्ति भयम विमुक्त शल्यम परम किम निज मूर्खदेव के के हयुपास्या गुरुदेव वृद्धा के नाश में मोक्ष है मन के नाश में किसमें सर्वथा भय नहीं है विमुक्त में सबसे बड़ा कांटा कौन है अपनी मूर्खता ही कौन कौन उपासना के योग है गुरु देवता और व्रत भगवान इन प्रश्नों पर आप क्या कहते हैं अभ्यानंद यह सूत्र प्यारा है सोचने योग ध्यान योग शास्त्री नासे मन सो ही मोक्ष किसके नाश में मोक्ष है मन के नाश में ही मन ही बंधन है और बंधन भी ऐसा जो केवल हमारी प्रतीति में नाश करने को वस्तुतः कुछ भी नहीं है सिर्फ आंख खोलकर देखने की बात है और मन नष्ट हो जाता है आंख बंद है तो मन है आंख खुली कि मन गया यूं है जैसे सांझ के धुंधलके में राह पर पड़ी रस्सी को देखकर तुम सांप समझ बैठे फिर लगे भागने फिर घबराए बहुत फिर यूं भी हो सकता है कि फिसल जाए भागने में पैर तोड़ लो हड्डी पसली यूं भी हो सकता है कि इतने घबरा जाओ कि हृदय का दौरा पड़ जाए और वहां कुछ भी ना था बस रस्सी थी सांप तुम्हारा प्रक्षेपण था तुमने जरूर देख लिया था तुम्हारी भ्रांति थी तुमने रस्सी के ऊपर अपने भय को आच्छादित कर दिया था सांप था नहीं फिर भी तुम्हारी हड्डी तो टूट गई जो थी और तुम्हारा हृदय तो हानि को पहुंच गया जो था जो नहीं है उसके भी परिणाम हो सकते अंधेरा भी नहीं है मगर उसके भी परिणाम तो होते अंधेरे में चलोगे तो दीवार से टकरा जाओगे दरवाजे से निकलना आवश्यक तो नहीं निकल जाओ संयोग है ज्यादा संभावना यही है कि दीवारों से टकराओगे अंधेरे में चलोगे फर्नीचर से टकरा के गिर पड़ो कुछ भी हो सकता है और अंधेरा नहीं है अंधेरे की कोई सत्ता नहीं अंधेरा केवल प्रकाश का अभाव है इसलिए तो दिए के जलाते ही अंधेरा नहीं पाया जाता है और ऐसे ही बोध के जगते ही मन नहीं पाया जाता जैसे कोई ले आए रोशनी तो रस्सी मिलेगी सांप नहीं फिर क्या पूछोगे सांप कहाँ गया फिर तो प्रश्न भी व्यर्थ हो जाएगा था ही नहीं तो जाएगा कैसे इसलिए एक बात ख्याल रखना मन के नाश का ऐसा अर्थ मत ले लेना कि मन है और उसका नाश करना क्योंकि जो है उसका तो नाश हो ही नहीं सकता थोड़ी तुम्हें असुविधा होगी जो मैं कह रहा हूं उसे समझ नहीं इसलिए ठीक ठीक उसे दोहरा दू जो है उसका नाश नहीं है और जो नहीं है बस केवल उसका नाश है एक छोटे से रेत के कण को भी मिटा ना सकोगे विज्ञान की सारी सामर्थ्य भी जो पूरी मनुष्य जाति को नष्ट कर सकती जो इस तरह की 700 पृथ्वियों को जीवन से विहीन कर सकती आज इतने उदजन बम एटम बम इकट्ठे हो गए लेकिन विज्ञान भी एक छोटे से रेत के कण को मिटा नहीं सकता जो है उसे मिटाने का कोई उपाय ही नहीं वह रहेगा रूप बदल सकता है आकृति बदल सकती है रहेगा नए रूपों में नई आकृतियों में और जो नहीं है केवल वही मिटाया जा सकता है इसलिए मैं अपने सन्यासियों से कहता हूं मैं तुमसे वही छीन लूंगा जो तुम्हारे पास नहीं और तुम्हें वही दे दूंगा जो तुम्हारे पास है ही न मुझे कुछ छीनना है न मुझे कुछ देना है जो है उसका तुम्हें होश आ जाए और जो नहीं है उसकी तुम्हारी भ्रांति टूट जाए मन आभास मात्र रस्सी में देखा गया सांप जरा सी रोशनी ध्यान की और मन नहीं पाया जाता है शंकराचार्य का यह सूत्र ठीक है कश्यास्ती ना से मनुष्य ही मोक्ष मोक्ष क्या है किस में मोक्ष है कहा मोक्ष है छोड़ दो धारणाएं कि कहीं दूर सात आसमानों के पार मोक्ष मोक्ष तुम्हारे भीतर मन की भ्रांति में उलझे हो इसलिए दिखाई नहीं पड़ता सांप में अटक गए इसलिए रस्सी दिखाई नहीं पड़ती जैसे ही मन की भ्रांति से जगे और मन सच में एक तंद्रा है एक मूर्छा है जैसे ही मन का ऊहापोह गया मन के विचारों का तांता टूटा ये मन के रास्ते पर दौड़ते हुए सपने स्मृतियां कल्पनाएं वासनाएं ऐसाएं तृष्णाएं ये ठहरी एक क्षण को भी ठहर जाएं, तो तत्क्षण तुम्हें यह दिखाई पड़ जाएगा कि मैं कौन मन के ठहरते ही स्वयं का बोध है और स्वयं का बोध ही मुक्ति है मोक्ष से फिर कहीं भूल ना कर लेना मोक्ष शब्द में ऐसा लगता है जैसे कुछ भौगोलिक कहीं मैं पसंद करता हूं मुक्ति वजह है मोक्ष की क्योंकि मुक्ति में आंतरिकता है मोक्ष में हमने मुक्ति को वाह रूप दे दिया जो भेद में भगवत्ता और भगवान में करता हूं जो भेद मैं धर्म और धार्मिकता में करता हूं वही भेद मैं मुक्ति और मोक्ष में करता हूं मेरा जोर मुक्ति पर है मोक्ष पर नहीं मोक्ष में खतरा है उस शब्द में ऐसा इशारा मालूम होता है कहीं और किसी और समय में किसी और लोक में और अगर कहीं और है मोक्ष तो मन फिर मिटेगा नहीं धन को छोड़ देगा पद को छोड़ देगा फिर मोक्ष की आकांक्षा से भर जाएगा और आकांक्षाएं सब एक जैसी हर आकांक्षा मन को जिलाए रखने के लिए काफी मन को बनाए रखने के लिए काफी है हर आकांक्षा मन का पोषण आकांक्षा मन की जड़ है तुमने कुछ भी चाहा तो मन बना रहेगा और तुमने चाहा ही नहीं तुमने चाह को ही जाने दिया कि मन गया मन यानी चाह मन यानी ऐसा तृष्णा महत्वाकांक्षा इसलिए ख्याल रहे तुम्हारे साधु हैं संत हैं महात्मा हैं अगर तुम उन्हें गौर से जांचोगे परखोगे तो पाओगे उनके जीवन में कोई क्रांति नहीं घटी हाँ आकांक्षा के विषय बदल गए लेकिन आकांक्षा पूर्ववत है कर्ण मात्र भी भेद नहीं पड़ा है वे वहीं के वहीं खड़े धन चाहते थे अब धर्म चाहते थे पद चाहते थे अब परमात्मा चाहते संसार चाहते थे अब कैवल्य चाहते और सारी आकांक्षाओं से अपने मन को सिकोड़ लिया और सारी आकांक्षाओं को एक ही आकांक्षा पर आरोपित कर दिया ख्याल रहे जब आकांक्षाएं बहुत बटी होती हैं तो मन कमजोर होता है क्योंकि विभाजित होता है धन भी चाहिए पद भी चाहिए प्रतिष्ठा भी चाहिए यह भी चाहिए वह भी चाहिए हजार चीजें चाहिए तो मन बटा होता है कटा होता है खंड खंड होता है खंड खंड होता है तो उसकी शक्ति भी कम होती है लेकिन जिसने अपनी सारी आकांक्षाओं को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दिया मोक्ष चाहिए पद की आकांक्षा को भी लगा दिया वहीं धन की आकांक्षा को भी लगा दिया वहीं प्रतिष्ठा की आकांक्षा को भी लगा दिया वहीं सारे तीर एक ही दिशा में चलने लगे उसका मन और भी मजबूत हो जाता है इसलिए मेरा अनुभव यह है कि सांसारिक लोगों के पास कमजोर मन होता है और तुम्हारे तथाकथित आध्यात्मिक लोगों के पास बहुत मजबूत मन होता है उनके बंधन कम न हुए तुम्हारे बंधन पतले धागों जैसे उनके बंधन मोटे रस्से हो गए सब धागों से बुन के बन गए सब धागों ने एक ही रस्ता बना दिया तुम्हारी जंजीरें छीन है क्योंकि बहुत आसानी से तोड़ी जा सकती उनकी जंजीर को तोड़ना बहुत मुश्किल उनकी महाजंजीर हो गई सब जंजीरों को ढाल लिया उन्होंने एक जंजीर में इसलिए मैं अपने सन्यासी को कहता हूं साधु मत बनना महात्मा मत बनना संत मत बनना भागना मत संसार को छोड़कर क्योंकि अगर भागोगे संसार को छोड़कर तो आगे कुछ लक्ष्य रखना पड़ेगा भागोगे किसके लिए भागना केवल नकारात्मक नहीं हो सकता है भागने में विधायकता होगी सामने कोई गंतव्य चाहिए तब कोई भाग सकता है तुम जब भागते हो तो किसी चीज से ही नहीं भागते किसी चीज के लिए भागते हो और तुम जिस चीज के लिए भाग रहे हो संसार छोड़कर वो और भी कठिन वो और भी मुश्किल मन मजबूत हो जाएगा मन जितना था उससे कहीं ज्यादा सबल हो जाएगा इसलिए तुम्हारे महात्माओं में जितना अहंकार होगा उतना सांसारिकों में नहीं होता सांसारिक आदमी तो बेचारा कहता है हम दीनहीन संसार के बंधनों में पड़े महात्मा की अकड़ ही और लात मार दी धन पर पद पर प्रतिष्ठा पर अरे मोक्ष के लिए सब कुछ छोड़ दिया मगर मोक्ष के लिए तो ये मोक्ष अब आखिरी फांसी बनी ऐसे मन नहीं जाता ये मन के जाने का ढंग नहीं है मन के जाने का तो एक ही ढंग है और वह है जाकर मन के स्वरूप को समझ लेना मन का स्वरूप क्या है मन का स्वरूप है और मिले और मिले और मिले मन का स्वरूप यही है जितना है काफी नहीं जो है काफी नहीं जहां हूं वो ठीक जगह नहीं जैसा हूं वो ठीक होना नहीं कहीं और होना है कुछ और होना है कुछ और पाना है बस यही मन का स्वरूप है और की दौड़ मन का दूसरा नाम जिस क्षण तुमने जाना कि जहां हूं जैसा हूं जो हूं मस्त हूं आनंदित हूं न कहीं जाना है न कुछ होना है न कुछ पाना है उसी बोध के क्षण में वह ज्योति तुम्हारे भीतर जगमगा उठती जिसमें मन नहीं पाया जाता वह दिया जल उठता है जिसमें मन का अंधेरा खो जाता है लेकिन शंकराचार्य का सूत्र सुंदर है किसके नाश में मोक्ष है मन के नाश में ही पर सावधान तुम्हें कर देना चाहता हूं कि मोक्ष पाने के लिए मन का नाश करना मत सोचने लगना नहीं तो चूक गए बात आई आई हाथ में और निकल गई शंकराचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि मन का नाश करो तो मोक्ष पालोगे वो ये कह रहे हैं कि मन का नाश जहां हो जाता है वहां जो बचता है वही मोक्ष मोक्ष तुम्हारे भीतर है मन के पर्दे उसके ऊपर पड़े मन के पर्दे हटा दिए मोक्ष प्रकट हो गया मोक्ष तुम्हारी नग्नता है तुम्हारा स्वरूप है तुम्हारा स्वभाव है तुम्हारी निजता है और मन मन है तुम्हारा भटकाव अपने से च्युत हो जाना अपने केंद्र से कहीं और चले जाना मन है समय अतीत भविष्य और मोक्ष है वर्तमान अभी और यही इस क्षण के पार देखना ही नहीं न पीछे न आगे इस क्षण में ही ठहर जाओ और तुम्हें मोक्ष मिल गया क्योंकि इस क्षण में ठहर जाना ही मोक्ष है और उन्होंने कहा क्व सर्वथा नास्ती भयम विमुक्त किसमें सर्वथा भय नहीं अभियानंद ने फिर अनुवाद किया है मोक्ष में मैं कहना चाहूंगा शंकराचार्य का शब्द बिल्कुल साफ है क्यों उसका तुमने मोक्ष में अनुवाद कर दिया हमारा मन कितने जल्दी गलतियों में उतर जाता है क्वा सर्वथा नास्ती भयम विमुक्त विमुक्त उसको तुम कैसे मोक्ष कह रहे हो विमुक्तता में विमुक्ति में तुम्हारे विमुक्त होने में ही भय का नाश तुमने उसको भी तत्क्षण मोक्ष कर दिया हम भीतर की बात को बड़े जल्दी बाहर की बना देते हम भीतर टिकने ही नहीं देते जल्दी बाहर बना देते क्योंकि बाहर बनाते से फिर हमारे लिए गंतव्य मिल जाता लक्ष्य मिल जाता अब पाके रहेंगे अहंकार के लिए नए आयोजन हो जाते तो अब विमुक्ति पानी मोक्ष पाना है मगर बाहर का कुछ कर लिया बात सदा भीतर की तुम सुनते हो और तुम्हारे सुनने में ही तत्क्षण भूल हो जाती रूपांतरण हो जाता है अभियानंद ने अनुवाद किया है किसमें सर्वथा भय नहीं मोक्ष में इसका मतलब हुआ कि जब मोक्ष पहुंचेंगे तब भय मिटेगा कल ही मुझे पत्र मिला है अमेरिका से हरे कृष्ण आंदोलन के प्रधान ने धमकी दी है धार्मिक धमकी है जैसा कि धार्मिक लोग सदा से देते रहे कुछ नई नहीं धमकी दी है कि अगर आपने हरे कृष्ण आंदोलन के खिलाफ कुछ भी कहा तो आप गोलोक में कभी नहीं पहुंच सकेंगे और आपको साथ में नरक में पड़ना पड़ेगा गोलोक जाना किसको कोई सांड हो तो गोलोक जाना चाह गोलोक किसको जाना अजीब लोग हैं पहले पूछ भी तो लेना चाहिए कि मुझे गोलोक जाना भी है या नहीं सारा लोक बना रखे महात्मा गांधी बकरी लोक में गए हों क्योंकि वो बकरी के दूध पीते रहे जिंदगी भर गोलोक में तो उनको कौन घुसने देगा और भैंस का दूध संभल के पीना मगर गोलोक में तुम करोगे क्या और गोलोक में तुम होोगे क्या इस समय चौंका बहुत चौंका इसलिए कि बेचारे भक्ति वेदांत प्रभुपात चल बस गोलोक में सांड हो गए होंगे एक आदमी मरा उसकी पत्नी एक ज्ञानी के पास गई जिसके संबंध में खबर थी कि वो प्रेतात्माओं से संबंध जोड़ लेता तो उसकी पत्नी ने कहा बस एक बार मुझे मेरे पति से बात करवा दो इतना मुझे भरोसा आ जाए कि वो ठीक जगह पहुंच गए तो मेरा दुख हल्का हो जाए उस प्रेतात्म विदने जंतर मंत्र पढ़े कुछ धूप दीप जलाए लोभान चढ़ाया हिला डुला कुछ अल्ल बल्ल बका आंखें ऊपर चढ़ाई और फिर एकदम आवाज बदल के बोला कि मैं आ गया पत्नी ने पूछा कि आप कैसे उसने कहा बहुत मजे में हूं बहुत आनंद में हूं चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है घास ही घास उगा है फूल खिल रहे गौए चल रही तो पत्नी ने कहा रे ये घास और गौ इनकी बात पीछे करना पहले स्वर्ग के संबंध में और कुछ तो बताओ उसने कहा अरे ये पास में ही जो गाय खड़ी ऐसी सुंदर हेमा मालिनी को मात दे रही पत्नी बोली कि तुम भ्रष्ट तो नहीं हो गए तुम्हारा दिमाग कैसा हो गए अरे स्वर्ग में पहुंच के कहा की बातें कर रहे हो पत्नी का कौन कहता है कि मैं स्वर्ग में आया अरे मैं यही पूना में एक सांड हो गया और क्या प्यारी गौ माता खड़ी लाल टपकी जा रही मेरी और तू कहा की स्वर्ग की बातें कर रही स्वर्ग जाए बाढ़ में मैं चला गौ माता के पीछे गौलोक में जाना किसको गोलोक छोड़ के और कहीं भी मैं जाने को तैयार हूं गोलोक में करना क्या है साथ में नरक में भेजने की मुझे धमकी दी मुझे कोई अड़चन नहीं सातवा हो कि चौदवा हो कोई भी नरक हो मैं जाने को राजी हूं क्योंकि मैं जहां हूं जैसा हूं वहीं आनंदित हूं वहीं आनंदित हूं हाथ में नरक में क्या बिगड़ जाएगा मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं वही सन्यासियों को इकट्ठा कर लेंगे वही सत्संग जमेगा और ऐसे भी जब मुझे साथ में नरक जाना पड़ेगा तो मेरे सन्यासी भी वहीं जाएंगे कहां जाएंगे वहीं फिर बसा लेंगे ये जो पार की कल्पनाएं हैं गोलोक बैकुंठ स्वर्ग मोक्ष सब पागलपन न तो कहीं कोई स्वर्ग है न कहीं कोई नरक जब तुम अपने में नहीं हो तो नरक में हो और जब तुम अपने में हो तो स्वर्ग में हो ये धमकियां किन्हीं और पागलों को देना जो अपने में है वो अपना स्वर्ग अपने साथ लिए चलता है और जो अपने में नहीं है वो कहीं भी पहुंच जाए नरक में ही रहेगा वो अपना नरक अपने साथ लिए चलता है अभ्यनंद शंकर ठीक कहते हैं किसमें सर्वथा भय नहीं मोक्ष अनुवाद ना करो विमुक्ति में और विमुक्ति का अर्थ हुआ मन से मुक्ति विमुक्ति का अर्थ हुआ समाधि ध्यान की परम अवस्था शल्यम परम किम निज मूर्ख दैव और सबसे बड़ा कांटा कौन सबसे बड़ा अवरोध क्या है शल्य क्या है रुकावट क्या है अपनी मूर्ता ही और तो किसकी मूर्खता तुम्हें बाधा देगी अपनी मूर्ता ही क्या है हमारी मूर्ता हमारी सबसे बड़ी मूलता यही है कि हम अज्ञानी हैं और अपने को ज्ञानी समझे बैठे पता कुछ भी नहीं और शास्त्रों को अपने चारों तरफ लपेट लिया शास्त्रों के वस्त्र बना लिए राम नाम की चदरिया ओढ़े बैठे भीतर रामरस बहता नहीं भीतर कुछ राम का अनुभव नहीं भीतर तो काम ही काम भरा हुआ है लेकिन बाहर राम नाम की चदरिया ओढ़े हुए वेद पढ़ रहे हैं कुरान पढ़ रहे हैं बाइबल पढ़ रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने वाला कहा है किस अवस्था में है मूर्छित है या होश में एक बात ख्याल रहे अगर मूर्छा में हो तो वेद भी पढ़ोगे तो क्या खाक पढ़ोगे तुम्हारा वेद भी कोक शास्त्र हो जाएगा और कुछ भी नहीं तुम कुरान भी पढ़ोगे तो कचरा कर दोगे तुम ही तो पढ़ोगे ना तुम ही तो अर्थ निकालोगे कुरान में तो शब्द होंगे अर्थ कौन देगा उन शब्दों को भाव भंगिमा कौन देगा उन शब्दों को रूप रंग कौन देगा तुम्हारे भीतर जाते जाते वे तुम्हारे रंग में रंग जाएंगे तुम जैसे ही मूर्छित हो जाएंगे लेकिन अगर तुम होश में हो अगर तुम ध्यान में हो अगर तुम शांत हो मौन हो तो फिर वेद को पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे भीतर के वेदों का द्वार खुल गया फिर कुरान दोहराने की जरूरत नहीं तुम्हारे भीतर खुद ही आयतें उतरने लगी तुम्हारे भीतर वही होने लगा जो मोहम्मद के भीतर हुआ था फिर क्या तुम उधार और बासे में अटकोगे मूढ़ता क्या है मूढ़ता एक ही है हम सब अज्ञानी पैदा होते अज्ञान में कोई खतरा नहीं अज्ञानी हम सभी पैदा होते खतरा तब शुरू होता है जब हम अज्ञान को उधार ज्ञान से ढांक लेते उधार ज्ञान से ढका हुआ अज्ञान ये मूर्खता है मूर्खता का दूसरा नाम पांडित्य तोतापन कितने तोते हैं कोई इमाम है कोई आयातुल्ला है कोई पोप है कितने पुरोहित कितने पंडित कितने शास्त्री और ये सब दोहरा रहे यंत्रवत मशीन की तरह इन्हें कुछ भी पता नहीं कि क्या दोहरा रहे हैं इन्हें यह भी पता नहीं कि क्यों दोहरा रहे हैं इन्हें यह भी पता नहीं कि इनके भीतर ही शास्त्रों का शास्त्र पड़ा हुआ है जिसे इन्होंने अभी खोला भी नहीं जिस पर सदियों की गर्द जम गई इनके भीतर वो दर्पण जिसमें सत्य की छवि बने मगर वो दर्पण ऐसा धूल में दब गया है कि इन्हें उसका कुछ पता ही नहीं और धूल इनके ज्ञान की इनके शास्त्रों का कचरा ही इनके दर्पण को ढांक लिया है आच्छादित हो गए हैं अज्ञान में खतरा नहीं है अज्ञान तो निर्दोषता है हर बच्चा अज्ञानी पैदा होता है लेकिन उसका दर्पण साफ होता है बच्चा मूर्ख नहीं होता मूर्ख होने के लिए तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ता मूर्ख होने के लिए तो कम से कम पीएचडी डिलिट e होना ही चाहिए मूर्ख होने के लिए उपाधियां चाहिए उपाधि शब्द बड़ा प्यारा है कम से कम हमारी भाषा में तो बड़ा प्यारा उपाधि का एक अर्थ बीमारी भी होता और उपाधि का एक अर्थ सम्मानित डिग्री भी होता बीमारियां ही हैं लेकिन अपनी बीमारियों को लोग लगाए फिरते आदमी को बंदरों जैसी पूछ नहीं तो बेचारा अपनी उपाधियों की पूछ लगा देता है एम ए पीएचडी डीलिट ये पूछ बन जाती उसकी इससे उसकी पूछ होने लगती पूछ बढ़ जाती तो पूछ होने लगती जितनी लंबी पूछ देखा ना हनुमान जी अपनी पूछ को बड़ा करते गए बड़ा करते गए मतलब ये कि वो होते गए पंडित होते गए पंडित अपनी पूछ का ही उन्होंने सिंहासन बना ली उस पर बैठ गए सभी यही कर रहे हैं पूछ को बड़ी करते जा रहे हैं मूढ़ता तुम्हारा तथाकथित जो शास्त्रीय ज्ञान है उसका ही नाम इससे तुम्हारा अज्ञान तो मिटता नहीं सिर्फ अज्ञान ढक जाता है काश तुम अपने अज्ञान को पहचान लो तो मिटाना बहुत आसान मगर ढांक लो तो फिर तो पहचानना ही मुश्किल हो गया जैसे किसी को घाव हो जाए वो उसको ढांक ले गुलाब का फूल उसके ऊपर चिपका ले फिर तो घाव का इलाज कौन करेगा भीतर मवाद इकट्ठी होती रहेगी ऊपर फूल सुगंध देता रहेगा बस ऐसी ही अवस्था है शल्यम परम किम निज मूर्ख तैव एक ही शल्य है एक ही कांटा है कि तुमने अपने अज्ञान को ढांक लिया उघाड़ो अज्ञान को पहचानो अज्ञान को पहचानने से ही ज्ञान की वर्षा होनी शुरू होती जिसने अज्ञान को पहचाना उस पहचानने में ही वो ज्ञानी हो गए जिसने अपने अज्ञान को गौर से देखा उस गौर से देखने में ही वो अज्ञान से अलग हो गया देखने वाला हमेशा दृश्य से अलग हो जाता है दृश्य से मुक्त हो जाता है और तीसरी बात शंकराचार्य ने कही के के हयुपाश्या गुरुदेव वृद्धा कौन कौन उपासना के योग्य गुरु देवता और वृद्ध अभ्युनंद शंकराचार्य का वचन तो बहुत प्यारा है मगर उसके जो अर्थ लोगों ने किए हैं बड़े ही नासमझी से भरे हुए गुरु कौन जो ज्ञान दे और ज्ञान दिया नहीं जा सकता सत्य दिया नहीं जा सकता मगर लोगों का अर्थ यही कि गुरु वह जो तुम्हें कुछ सिखाए वेद सिखाए कुरान सिखाए बाइबल सिखाए सिद्धांत सिखाए वही गुरु जो तुम्हें सिखावन दे वो गुरु और देवता कौन इंद्र और वे सारे लोग जो खूब पुण्य अर्जन करके धर्मशालाएं बना के प्याऊ खुलवा के मंदिर खड़े करवा स्वर्ग पहुंच गए वो सब देवता या उन्होंने धर्मशाला खुलवाई अब वहां गुलछर्रे कर रहे हैं अरे धर्मशाला धर्मशाला खुलवाओगे तो गुलछर्रे तो होने ही वाले हैं नहीं तो कोई धर्मशाला किस लिए खुलवाए यहां झाड़ लगवाए वहां कल वृक्ष के नीचे बैठे हुए कल वृक्ष के नीचे क्या बैठे मजा कर रहे हैं जो चाहिए यहां चाहा और वहां चीज मौजूद हुई दुनिया में तो ऐसा है चाहो आज वर्षों मेहनत करो घुटो पिटो भारा भारी भीड़ भड़क्का है सौ सौ जूते खाओ तब कहीं तमाशा देख पाओ पहले खुद तमाशा बनो और जब तक तमाशा देखने की हालत आए तब तक तुम्हारी हालत देखने योग्य न रह जाए लेकिन कल वृक्ष के नीचे तत्क्षण घटना घटती तो देवता कौन है जैसे जुगल किशोर बिरला कितने बिरला मंदिर बनवाए वो देवता हो गए कहते हैं उनको स्वर्ग के द्वार पर स्वागत किया गया खूब सहनाई बची खूब देवी देवताओं ने घंटाल पीटे खूब भजन कीर्तन हुआ थोड़े तो जुगल किशोर बिरला भी हैरान हुए मेरे परिचित थे परिचित थे सो तो उनके संबंध में सच्ची सच्ची बात ही कह देता हूं थोड़ा संकोच भी हुआ सोचा तो था कि स्वर्ग मिलेगा मगर ऐसा स्वागत समारंभ भी होगा रेड कारपेट वाला स्वागत एकदम लाल मखमली दरी बिछाकर स्वर्ग के द्वार पर फूलों की मालाएं फूल जो कभी कुमलाते नहीं अप्सराएं उर्वशी मैन का फूलों के हार लिए जुगल किशोर जरा चौंके मंदिर तो उन्होंने बनवाए थे स्वर्ग जाएंगे ये भी आश्वासन था मुझसे पूछा भी था उन्होंने कि मैंने इतने मंदिर बनवाए इतना पुण्य किया इतना दान किया इतने ट्रस्ट इस सब का क्या लाभ होगा मन में कहीं संकोच तो रहा ही होगा तभी आदमी पूछता है कहीं भय भी रहा होगा कहीं यूं ही तो सब हाथ से पैसा बेकार नहीं जा रहा इधर भी गए उधर भी गए न रहे घर के न घाट के हो गए धोबी के गधे मैं तो हंस के टाल गया था क्योंकि सच्ची बात कहूं तो बूढ़े आदमी मरने के करीब अब नाहक इनको क्या दुख देना मरण सैया पर ही पड़े हैं सच बात इनसे अब क्या कहो बहुत देर हो गई और झूठ तो मैं कह सकता नहीं चाहे कोई मरण सैया पे ही पड़ा हो तो मैं तो हंस के टाल गया था मगर जब उन्होंने देखा तो पूछा उन्होंने द्वारपाल से क्या इसी तरह सभी का स्वागत होता उन्होंने कहा कि नहीं आपका स्वागत इसलिए हो रहा है कि आपने एम्बेसडर कार बनवाई जुगल किशोर और चौंके की हद हो गई मंदिर बनवाए धर्मशालाएं खुलवाई यज्ञ हवन करवाए उनके कारण स्वर्ग नहीं मिल रहा है एम्बेसडर कार बनवाई उसके कारण स्वर्ग मिल रहा है उनका मैं कुछ समझा नहीं उन्होंने कहा समझे नहीं आप समझो आपके कार के कारण जितने लोगों को राम का स्मरण आया और किसी के कारण नहीं आया जो भीतर बैठते वो राम राम कहते रहते जो उसको सड़क से निकलते देखते एकदम राम राम कह के बगल में हट जाते क्या गजब की चीज आपने बनवाई जिसमें हर चीज बचती है सिवाय हार्न को छोड़कर मीलों तक एकदम राम राम जब जाता है जहां से निकल जाती है एम्बेसडर कार दूर दूर तक सन्नाटा हो जाता एकदम लोग ध्यानस्थ हो जाते उसी के कारण आपका स्वागत हो रहा है अब बैठे होंगे कल्प वृक्ष के नीचे हालांकि करेंगे क्या कल्प वृक्ष के नीचे यही सोच रहे होंगे कि अब यहां कैसे एम्बेसडर कार का कारखाना खोले खुल जाएगा एकदम कारखाना यहां सोचा कि वहां खोला यहां वृक्ष लगवाओ वहां कल वृक्ष मिलेंगे शास्त्र कहते हैं यहां एक रुपया दान दो वहां करोड़ गुना पाओ देखा लॉटरी बहुत पुरानी चीज ये कोई नई बात नहीं भारतीय सरकारों को नाहक गालियां मत दो कि लॉटरी खिलाना सिखाती लोग ये तो शास्त्रीय है बातें ये तो धार्मिक है तो महात्मा पहले से ही खिलाते रहे और कम से कम यहां लॉटरी है तो यही पैसा मिलता है वो लॉटरी तो ऐसी कि पता नहीं आगे मिले कि ना मिले ये रुपया भी गया मगर पंडित पुरोहित धंधा ही अदृश्य का करते नगद रुपया लेते और उधार आश्वासन देते वो मिलेगा मरने के बाद चिट्ठियां लिख देते हुंडियां लिखी जाती हुंडी लिखी जाती है और मुर्दे के साथ रख दी जाती कि दिखा देना भंजा लेना तो देवता वे हैं जो पुण्य करके धर्मशालाएं वगैरह बना के स्वर्ग में पहुंच गए ये तुम्हारी धारणा है फिर स्वभाव था तो वहां भी वही राजनीति चलेगी क्योंकि एक पहुंच गया स्वर्ग में इंद्र हो गया तो वो दूसरे महात्मा को इंद्र नहीं होने देता क्योंकि अब दूसरा महात्मा तैयारी कर रहा है तो इंद्रासन डोलता रहता है इंद्रासन डोलता ही रहता है शास्त्रों में जब देखो तब ज्यादा काम यही होता है इंद्रासन डोल रहा है कोई बिचारा ऋषि मुनि बस भेज दी अप्सराएं और ऋषि मुनि एकदम अप्सराओं के कारण भ्रष्ट हो जाते देर नहीं लगती सिर्फ मेरे सन्यासियों को कोई अप्सराएं भ्रष्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो अप्सराओं को पहले ही भ्रष्ट कर चुके अब क्या अप्सराएं उनको भ्रष्ट करें अगर मेरे सन्यासी के पास उर्वशी वगैरह आए भाई जा आगे बढ़ किसी पुराने ढंग के ऋषि मुनि को खोज मेरे सन्यासी से इंद्र की छाती कपती होगी कि अगर ये सन्यासी यहां आ गए तो इन पर कोई पुराने दांव पे चलेंगे नहीं पुराने दांव पे चल जाते थे बेचारे ऋषि मुनियों पर भूखे बैठे हैं दबाए बैठे हैं वासना को पत्नियों को छोड़ आए हैं तो वही वही उबल रहा है भीतर और यहीं आ गई इसी बीच और वसी अब करें भी तो क्या करें अब एकदम से भ्रष्ट न हो तो और क्या करें योग भ्रष्ट होते थे दूसरों को भ्रष्ट करें ये भी खूब देवता हुए ऐसा अर्थ मत करना नहीं तो शंकराचार्य का पूरा पद व्यर्थ हो जाएगा और वृद्ध से ऐसा अर्थ मत करना कि जिनकी उम्र ज्यादा है वृद्ध से उम्र का कोई लेना देना नहीं नहीं तो बूढ़े गधे बहुत है एक से एक पहुंचे हुए गधे उम्र ही उनकी बस एक मात्र काफी प्रमाण कि वो जो कहते हैं सो ठीक कहते उम्र से कुछ भी नहीं होता अनुभव ही प्रौढ़ता लाता है और अगर उम्र से ही शंकराचार्य का मतलब हो तो खुद शंकराचार्य को कोई सम्मान नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो तो तैतीस साल में चली बस बूढ़े तो हुए ही नहीं तैतीस साल में ही तो खात्मा हो गए तो उनका अर्थ वृद्ध से उम्र नहीं प्रौढ़ता है अनुभव की परिपक्वता है और उपासना से भी अर्थ तुम पूजा का मत लेना नहीं तो सब खराब कर दोगे मेरा अर्थ समझने की कोशिश करो कौन कौन उपासना के योग्य हैं उपासना शब्द बहुत सीधा है वे कौन कौन हैं जो पास जिनके पास बैठने के योग उपासना का अर्थ होता है पास बैठना उप आसन जैसे तुम मेरे पास बैठो ये उपासना है पास किसके बैठा जा सकता है पूजा का कोई सवाल नहीं है पूजा तो मूढ़ करते लोभ ही करते किसी लोभ के कारण करते उपासना का अर्थ है सत्संग सत्संग के कौन योग्य है किसके पास बैठे वो कौन है जिसके पास बैठने से क्रांति हो जाएगी जले हुए दिए के पास अगर बुझा हुआ दिया बिठा सको तो एक निकटता का क्षण एक फासला है जिस फासले की सीमा को पार करते ही बुझा दिया भी जला हुआ दिया हो जाता तुमने हजारों बार जले दिए से बुझे दिए जलाए हर दीपावली को जलाते हो वही प्रक्रिया उपासना की किसी जले हुए दिए के पास बैठो और पास से पास आते जाओ ऐसे पास आ जाओ कि तुम्हारा बुझा दिया भी जल उठे अर्थ है इसका सत्संग उनको देखा है उनको एक बार फिर से देखा है यूं देखा तो है पहले भी उन्हें आज जानो जिगर से देखा है उनको देखा है उनको एक बार फिर से देखा है यूं तो देखा है पहले भी उन्हें आज जानो जिगर से देखा है खुद को देखा है उनकी आंखों से खुद को देखा है उनकी आंखों से उनको उनकी नजर से देखा है जहां खो जाते हैं राहो मंजिल उनको इस रह गुजर से देखा है इधर से देखी है सीढ़ियों पर धूप चांदनी को उधर से देखा है उनमें देखा है एक शब्दों का सनम एक चुप्पी को मुखर देखा है एक खुशबू जो इस जहां की नहीं उनका गुल उस खुशबू से तर देखा है संभाले चलते हैं वो एक छलकता सागर ये उनके पांव सर से देखा है आंखों से पी है उनके रूप की मैं और शायद अधर से देखा है आंखें ये जब लगी होने खाली तब उन्हें आंख भर के देखा है उनको देखा है यह शहर में एक दिन अब उन्हें उनके घर से देखा है चांद को देखा है जमी से बहुत जमी को चांद पर से देखा है हंसी है वादियों का अंधेरा भी रोशनी के शिखर से देखा है डुबोने वाले हैं अक्सर साहिल ही ये नजारा लहर से देखा है कितने नाजुक हैं हकीकतों के महल ख्वाब के कांच घर से देखा है यूं तो देखा है घड़ी भर को उन्हें पर लगे उम्र भर से देखा है लंबी पहचान भी है कुछ यूं ताजी जो प्यार की पहली नजर से देखा है जले हैं उस तरफ चिरागों पर चिराग उनका जलवा जिधर से देखा है जले हैं उस तरफ चिरागों पर चिराग उनका जलवा जिधर से देखा है इश्क में बुझ के भी जलने की अदा इन पतंगों के पर से देखा है इश्क में बुझ के भी जलने की अदा इन पतंगों के पर से देखा है लफ्जों के दायरे हैं कितने छोटे ये लफ्जों से गुजर के देखा है हम भला देखते उन्हें कैसे उनके मेहरो असर से देखा है उनको एक बार फिर से देखा है उपासना का अर्थ है किसी बुद्ध पुरुष के पास बैठना और बैठने में ही पीना शुरू हो जाता है बैठना भर आशा है मौन शून्य खाली निर्विचार निर्विकल्प और पीना शुरू हो जाता है दीवानगी से काम लिया और पी गए दीवानगी से काम लिया और पी गए बेख्तियार जान लिया और पी गए जैरोहरम के नाम पे पीना हराम है हमने तुम्हारा नाम लिया और पी गए दीवानगी से काम लिया और पी गए बेख्तियार जान लिया और पी गए याद आ गई किसी की निगाहें झुकी हुई याद आ गई किसी की निगाहें झुकी हुई नजरों से एक सलाम लिया और पी गए दीवानगी से काम लिया और पी गए बेख्तियार जाम लिया और पी गए दुनिया की बेबफाई पे हंसकर उठाया जाम दुनिया से इंतकाम लिया और पी गए दीवानगी से काम लिया और पी गए बेख्तियार जान लिया और पी गए बैठो भर उपासना भर हो जाए कि पीना भी हो जाता है क्योंकि किसी भी सदगुरु का सत्संग मैं कदा है कोई भी सदगुरु शराब से भरी हुई सुराही तुम जाम बनो तुम पास आओ कि शराब छलकने को राजी तुम्हारे जाम को भर देने को राजी दूर दूर नहीं पास पास करीब से करीब निकट से निकट उस सामिप्य का नाम है उपासना कौन कौन उपासना के योग्य है के के हयुपास्या गुरुदेव वृद्धा गुरु उपासना के योग्य गुरु कौन है वह नहीं जो तुम्हें सत्य दे देता है वरन वह जो तुम्हें सत्य की प्यास दे देता है जो तुम्हें तृष्णा काम बना देता है जो तुम्हें प्यास से भर देता है सत्य तो नहीं दिया जा सकता सत्य के संबंध में एक बात एक शाश्वत नियम सत्य दिया नहीं जा सकता मगर लिया जा सकता जब एक जलते हुए दिए से दूसरे बुझे हुए दिए में ज्योति जाती तो क्या तुम सोचते हो जलते हुए दिए का कुछ खो जाता है कुछ कम हो जाता है नहीं बिल्कुल नहीं न कुछ खोता न कुछ कम होता इसलिए जले हुए दिए ने कुछ भी दिया नहीं लेकिन बुझे हुए दिए ने कुछ लिया जरूर बहुत कुछ लिया सब कुछ लिया कहां बुझा था कहां जला हो गया असल में दिया न कह के लिया कहना चाहिए क्योंकि दिया देता तो कुछ भी नहीं जब भी लेता है तो लेता ही है मगर हमारी भाषा अजीब तरह के लोग बनाते चलती हुई चीज को गाड़ी कहते हैं गाड़ी कहना चाहिए गड़ी हुई चीज को क्या गजब के लोग हैं चलती को गाड़ी कहते कहते चलती का नाम गाड़ी अरे तो फिर गाड़ी का नाम क्या ऐसे ही लिए का नाम दिया रख छोड़ा सदगुरु देता नहीं लेकिन शिष्य लेता है यही उपासना का जादू गुरु का कुछ खोता नहीं शिष्य को सब मिल जाता है गुरु कौन है जिसके पास बैठने से मिल जाए जो दे नहीं और तुम्हें मिल जाए जिसका कुछ घटे नहीं और तुम्हारा सब भर जाए जो जितना भरा था उतना ही रहे ईसावास्य का प्रसिद्ध वचन वह भी पूर्ण है यह भी पूर्ण पूर्ण से पूर्ण को भी निकाल ले तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है पूर्ण में पूर्ण को जोड़ भी दें तो भी पूर्ण में कुछ बढ़ती नहीं होती उतना ही पूर्ण सदगुरु उस पूर्ण अवस्था को उपलब्ध है जिससे तुम जितना चाहो ले लो पीछे फिर भी पूर्ण से ही रहेगा और देवता कौन इस शब्द को भी हम समझने की कोशिश करें देवता शब्द बनता है दिव से दिव्य से ही बनता है दिव्य दिव्य से ही बनता है दिवस दिव्य से ही बनता है अंग्रेजी का डिवाइन दिव्य से ही बनता है अंग्रेजी का डे और तुम चकित होगे दिव्य से ही बनता है अंग्रेजी का डेविल भी दिव का अर्थ होता है प्रकाश जो प्रकाशमान है इसलिए दिवस कहते हैं हम डे कहते हैं जो प्रकाशवान है वही दिव्य है जो ज्योतिर्मय उपनिषद के ऋषियों ने गाया है तमसोमा ज्योतिर्गमय अंधेरे से मुझे ज्योति की तरफ ले चलो मृत्योरमा अमृतम गमे मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलो अस्तो मां सदगमे असत से मुझे सत्य की ओर ले चलो मगर सारी बात आ गई है एक ही सूत्र में तमसो मां ज्योतिर्गमे मुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चलो जो भी ज्योतिर्मय वह देवता सच में इसीलिए चांद को भी देवता कहा सूरज को भी देवता कहा अग्नि को भी देवता कहा क्योंकि वे सब ज्योतिर्मय और इसलिए गुरु को भी देवता कहा क्योंकि वह भी ज्योतिर्मय और चांद से सूरज से अग्नि से ज्यादा ज्योतिर्मय क्योंकि चांद एक दिन बुझ जाएगा और सूरज भी एक दिन बुझ जाएगा कभी नहीं था कभी नहीं हो जाएगा एक दिन उसका तेल चुक जाएगा रोज चुक रहा है चौबीस घंटे जलेगा तो तेल तो चुकता ही रहेगा वैज्ञानिक कहते हैं कि संभवतः चार हजार सालों में सूरज बुझ जाएगा अगर उसके पहले आदमी ने पृथ्वी से किसी और पृथ्वी पर अपना आवास कर लिया तो ठीक अन्यथा पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी अपने आप बर्बाद हो जाएगी सूरज बुझा कि सब बुझ जाएगा जीवन समाप्त हो जाएगा कुछ आश्चर्य की बात ना होगी कि शायद इसीलिए ही एक गहन आकांक्षा आदमी के किसी अचेतन तल से उठी है कि चलो चांद पर चलें कि चलो मंगल पर चलें कि चलो दूर चांद तारों की खोज करें आज उसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं लेकिन अचेतन में कहीं ये प्रतीति भीतर मनुष्य के उठ रही कि ये पृथ्वी के दिन अब थोड़े ही बचे इस पृथ्वी को छोड़ना ही पड़ेगा साफ नहीं है ये सब धुंधला धुंधला है लेकिन प्रकृति और जीवन बड़े धुंधल के में काम करता है तुमने देखा सेमर में बीज लगते तो बीज के चारों तरफ सेमर की रुई लपटी रहती वो क्यों लपटी रहती सेमर बड़ा वृक्ष अगर बीज उसमें से गिरे और वृक्ष के नीचे ही गिरेंगे तो उनमें से कभी पौधे पैदा ना हो सकेंगे इसलिए सेमर का अचेतन अपने बीजों के पास रुई को पैदा करता है ताकि बीज नीचे ना गिर सके रुई लगी रहेगी तो हवा में उड़ जाएंगे दूर दूर निकल जाएंगे नीचे गिरेंगे तो मर जाएंगे दूर निकल जाना जरूरी कोई सहमर इसलिए अपने बीजों में रुई नहीं चिपकाता कि तुम्हारे तकिए बने और गद्दे बने तुम्हारे तकिए गद्दों से सहमर को क्या लेना अपनी संतति को बचाना है अपने बीजों को बचाना है मगर सेमर को इसका कुछ पता नहीं ये सब अचेतन जिन लोगों ने लोगों को सूलियां लगते देखा उन्होंने एक अजीब बात देखी कि जब किसी व्यक्ति को सूली लगाई जाती तो तत्क्षण उसकी जन्नेन्द्री से वीर निकल भागता है तत्क्षण सूली लगते ही वैज्ञानिक कहते हैं इसका एक ही कारण कि वो जो वीर कण है वो घबरा उठते हैं कि यह आदमी तो मरा हम कोई राहत खोज ले कहीं जीवन मिल जाए हम किसी ठीक गर्भ को पालें मिलता नहीं उन्हें कोई गर्भ ये और बात मगर निकल भागते तेजी से निकल भागते इधर सूली लग रही है उधर वीरिकण एकदम निकल भागते शायद पृथ्वी के दिन लद गए हैं ये प्रकृति के अचेतन में साफ है सूरज के ढलने के दिन करीब आ गए कोई चार अरब वर्ष रोशनी दे रहा है बहुत हो चुका चुका जा रहा है जल्दी ही एक दिन बुझ जाएगा सूरज भी बुझ जाता है और चांद तो बेचारा बिल्कुल उधार है वो तो सूरज की ही रोशनी लेके दौड़ाता रहता उसका धंधा तो बिचवैये का है दलाल का है वो तो फली भाई जहां काम करते हैं शेयर मार्केट में वही काम करता है इधर से लेना उधर देना उसके पास अपनी कोई रोशनी नहीं सूरज की रोशनी ले लेता है और लौटा देता है जैसे चांद पर तुम टार्च फेंको या जैसे दर्पण पर तुम टार्च से रोशनी डालो तो दर्पण लौटा देता ऐसे ही चांद लौटाता है सूरज बुझेगा तो चांद बुझ जाएगा लेकिन सदगुरु की रोशनी कभी नहीं बुझती क्योंकि वह बिना ईंधन के जलती वो अकेली रोशनी है जो बिना ईंधन के है ईंधन ही नहीं इसलिए बुझने का कोई सवाल नहीं इसलिए सदगुरु को ही देवता कहा है वो सदगुरु का ही दूसरा नाम दिव्यता का ही दूसरा नाम और सदगुरु को ही वृद्ध कहा है उसकी उम्र कुछ भी हो शंकराचार्य की उम्र तैतीस ही वर्ष थी लेकिन वो वृद्ध जीसस की उम्र तैतीस ही वर्ष की थी लेकिन वो वृद्ध और मुरारजी देसाई की उम्र पचासी वर्ष वृद्ध नहीं अभी बाल बुद्धि से भरे हुए बाल बुद्धि मूढ़ता के लिए अच्छा शब्द उम्र इनकी तेरह चौदह साल से ज्यादा नहीं मानी जा सकती मानसिक रूप से इससे ज्यादा बुद्धिमत्ता नहीं है इससे ज्यादा औसत मानसिक उम्र नहीं है क्या गजब की बातें करते ब्रजनेव आया तो कह दिया कि मुझसे कहा था ब्रजनेव ने कि पाकिस्तान को खत्म करो इसको सबक सिखाओ अभी गांधीवादी सत्यवादी एक हो गया राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी एक हुए मोरारजी देसाई सत्यवादी दो ही तो सत्यवादी हुए दुनिया में क्योंकि राजा हरिश्चंद ने सपने में देखा था कि किसी ब्राह्मण को दान कर दिया इन्होंने पता नहीं किस सपने में सुन लिया कि ब्रजनेव ने इनसे कहा सपने में ही सुना होगा ब्रजनेव भी चौंका सारा रूस चौंका कि ये बात तो कभी कही नहीं गई मगर वो जिद पर रहे कि नहीं कही और अब बदल गए क्योंकि कोई प्रमाण तो दे नहीं पाए अब कहने लगे ब्रज ने नहीं कही थी किसी और ने कही थी उसका नाम मैं बताना नहीं चाहता अब नाम बताएं भी कैसे उसका पहले तो ये कि ब्रज ने कही थी ये कहा अब कहने लगे ब्रज ने नहीं कही थी किसी और ने कही थी अब उसका नाम नहीं बताना चाहती क्योंकि नाम बताएंगे तो फिर सवाल उठेगा कि प्रमाण देना पड़ेगा ये बचकानी बातें हैं अभी रोज कहते फिरते हैं वो जगह जगह कि आसाम की समस्या का हल मेरे पास तो तुम जब प्रधानमंत्री से तो बाढ़ झोंकते रहे आसाम की समस्या कोई नई समस्या है तब तुम क्या करते रहे तब तुम शिवाम्बू पान करते रहे और अब तुम्हारे पास आसाम की समस्या का हल है लेकिन वो भी मैं तब तक नहीं बताऊंगा जब तक सरकार मुझसे खुद न पूछे तो ज्ञानी जैल सिंह ने उनको पत्र लिखा कि मैं पूछता हूं आप आ जाइए तो कल मैंने देखा उन्होंने कहा है कि पहले टिकट भेजिए किस तरह के लोग हैं इन पर टिकट भी नहीं है दिल्ली जाने की तो इनको मदर टेरेसा की किसी अनाथालय में भर्ती क्यों नहीं कर दो दोनों का बड़ा सत्संग रहेगा क्या बातें करते हैं लोग और मैं कह देता हूं इनको टिकट मैं देने को राजी हूं और जो हल निकलेगा वो वही निकलेगा तुम्हें तो मैं कई दफा कह चुका हूं एक गांव में चोरी हो गई थी कोई बता ना सके हल गांव में एक शेख चिल्ली था उसने कहा मैं बता सकता हूं पुलिस इंस्पेक्टर बहुत खुश हुआ अधिकारियों ने कहा भाई बता दो हम यही तो परेशान है कोई नहीं बता पा रहा गांव के लोगों ने कहा भाई हो ना हो ये शायद बता दे क्योंकि एक दफे गांव में से हाथी निकला था कोई ना बता सका क्योंकि रात को निकल गया और सुबह हमने उसके पैर रेत में बने देखे किसी ने हाथी देखा नहीं था सुइसी ने बताया था कोई ना बता सका इसने तत्संग कभी आ रही है कुछ भी नहीं पांव में चक्की बांध के हरना कूदा हो कुछ भी नहीं पैर में चक्की बांध के कोई हरण कूदा है इसमें कुछ चिंता की बात नहीं ये है तो बड़ा ज्ञानी हम सब रह गए थे किसने बता दिया तो शायद बता दे तो पुलिस अधिकारी ने कहा कि भाई बता दो उसने कहा कि यहां नहीं बताऊंगा एकांत बिल्कुल अकेले में बताऊंगा चलो भाई अकेले में ले चला गांव के बाहर काफी दूर निकल गया अधिकारी भी घबराने लगा भाई यहाँ कोई भी नहीं दिखाई पड़ता आदमी क्या जानवर भी नहीं है कोई गौ माता भी नहीं चल रही आसपास लोग भी पीछे छूट चुका अब तो बता दे उसने कहा पास आओ कान में कहूंगा मजबूरी में उसने कान इसके पास कर दिया कान में आया कि हो ना हो किसी चोर ने चोरी की टिकट मुरारजी देसाई को मैं दे दूंगा तुम जाके ज्ञानी जैल सिंह के कान में इतना बता दो ये शेख चिल्लियों की बातें ये बचकानी बातें अब इनको टिकट चाहिए टिकट मिल जाए तो शायद कुछ और कि लेने के लिए ज्ञानी जल सिंह को आना चाहिए उम्र हो जाने से ही कोई वृद्ध नहीं होता केवल सदगुरु को ही वृद्ध कहा जा सकता है वृद्ध का अर्थ होता है जिसने जीवन को देख लिया पहचान लिया कि व्यर्थ जिसने जीवन की असारता देख ली जिसने जीवन की क्षण भंगुरता पहचान ली जिसने जीवन में कुछ भी सार न पाया और जीवन में सार न देखकर जिसने मन की सारी दौड़ को समाप्त कर दिया जो समाधिस्थ है वही सदगुरु है वही देवता है क्योंकि वही दिव्य है वही ज्योतिर्मय और वही है उपासना के योग शंकराचार्य का सूत्र यह प्यारा है दूसरा प्रश्न भगवान आप कहते हैं कि जाग गए पुरुषों से गलती होती ही नहीं वे जो भी करते हैं वह सही ही होता है और जो सोए हैं वे कुछ भी करें गलत ही होता है फिर दूसरी ओर आप जिन्हें जागृत पुरुष कहते हैं उनकी गलतियों की ओर इशारा भी करते भगवान यह कैसा विरोधाभास है कृपया समझाने की अनुकंपा करें इसी तरह का प्रश्न एक मित्र ने और पूछा है कि मैं शंकराचार्य के एक सूत्र का खंडन किया और मैं शंकराचार्य पर बोला हूं और मैंने शंकराचार्य को बुद्ध पुरुष कहा और अभी बोला और शंकराचार्य के सूत्र की भूर भूर प्रशंसा की तो तुम्हारे मन में इस तरह के प्रश्न उठेंगे कृष्ण तीर्थ भारती मगर मामला बहुत आसान है कोई शंकराचार्य के सभी सूत्र उनके बुद्धत्व के बाद नहीं कहे गए बहुत से सूत्र उन्होंने बुद्धत्व के पहले कहे जो सूत्र उन्होंने बुद्धत्व के पहले कहे हैं उनकी तो मैं ठीक से खबर लूंगा और जो उन्होंने बुद्धत्व के बाद कहे उनकी जितनी प्रशंसा कर सकता हूं उतनी जरूर करूंगा फिर दोहराता हूं कि बुद्ध पुरुषों से कभी कोई गलती नहीं होती मगर बुद्ध पुरुष कभी कोई होता है उसके पहले तो उससे बहुत गलतियां हो जाती जैसे मैं कहता हूं जीसस सूली पर बुद्ध पुरुष हुए उसके पहले उनसे बहुत गलतियां हो गई बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़े छह वर्ष बाद जब 35 वर्ष के थे तब बुद्धत्व को उपलब्ध हुए तो उन 35 वर्षों में उन्होंने जो भी कहा हो जो भी सुना हो जो भी किया हो उसका कोई मूल्य नहीं महावीर को 40 वर्ष की उम्र में बुद्धत्व मिला उसके पहले उन्होंने जो भी कहा हो जो भी किया हो जो भी सुना हो सब गलत है मैं तो जिस सूत्र का समर्थन कर रहा हूं वह सूत्र निश्चित ही बुद्धत्व की अवस्था में कहा गया होगा और जिस सूत्र का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं निश्चय ही वो बुद्ध होने के पहले कही गई बात होगी इसमें कुछ विरोधाभास नहीं क्रांति घट जाती है व्यक्ति के भीतर बुझा हुआ दिया एक ढंग से व्यवहार करता है उसमें रोशनी नहीं होती और जला हुआ दिया दूसरे ढंग से व्यवहार करता है उसमें रोशनी होती वही दिया कभी जला था कभी बुझा हो जाता एक ही दिया कभी बुझा है कभी जला हो जाता है बुद्धत्व तो फिर नहीं बुझता सौभाग्य से ही अच्छा है एक बार जला सो जला तो बुद्धत्व के पहले जो भी वक्तव्य दिए गए हों उनका कोई मूल्य नहीं हाँ कभी कोई वक्तव्य शायद सत्य के करीब आ गया हो संयोग वसात तो उसकी उतनी प्रशंसा मैं जरूर करूंगा कल ही मैं रविन्द्रनाथ के वचन की प्रशंसा कर रहा था लेकिन उतनी ही प्रशंसा उसी अनुपात में जिस अनुपात में सत्य की उसमें छवि होगी झलक होगी मैं किसी का अनुयायी नहीं हूं और न मेरी किसी के साथ दुश्मनी इसलिए मोहम्मद का जो वचन मुझे बुद्धत्व की कसौटी पर सही मालूम होगा जरूर समर्थन करूंगा और अगर कृष्ण का भी कोई वचन बुद्धत्व की कसौटी पर नहीं उतरेगा तो मैं उतना ही विरोध करूंगा जितना कि कर सकता हूं उसमें फिर जरा भी रंच मात संकोच नहीं करूंगा इससे तुम्हें अड़चने आती हैं तुम्हारी अड़चने भी मैं समझता हूं क्योंकि तुम चाहते हो सीधी सीधी बात तुम चाहते हो या तो मैं कहूं कि बुद्ध है ये तो सब ठीक कूड़ा कचरा कुछ भी हो सब ठीक और या कहूं कि ये बुद्ध नहीं है तो फिर हीरा जवारात हो वो भी गलत इसी तरह का एक प्रश्न तीसरा प्रश्न भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की कथा और उसके पात्र राम सीता आदि के आप काफी विरोध में और दूसरी तरफ आप बताते हैं कि वाल्मीकि मरा मरा जपकर भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए यह विरोधाभास कैसा क्या एक बुद्ध पुरुष से ऐसी कथा की संभावना है जिसका दूसरा बुद्ध पुरुष विरोध करे ऋषिराज त्रिवेदी पहले तो तुम जरा यही सोचो कि बाल्या भील जो ठीक से राम राम भी नहीं जप सकता था वो रामायण की कथा लिख सकेगा जो राम राम जपते जपते मरा मरा जपने लगा ऐसा व्यक्ति राम की कथा लिख सकेगा इसकी कोई संभावना है इसकी कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती राम भी याद ना रह सका पूरा पूरा केवल दो अक्षर छोटा से छोटा शब्द उसको भी भूल गया और मरा मरा कहने लगा वह व्यक्ति रामायण लिख सकेगा पढ़ा लिखा तो था नहीं और अगर उसने रामायण लिखी होगी तो बेपढ़ा लिखा आदमी असंस्कृत आदमी जो लिखेगा उस लिखने में उसके सारे असंस्कारों की छाप होगी उसका सारा बेपढ़ा लिखापन उसमें छाया डालेगा तो पहली तो बात यह है कि बाल्याभील इतना बे, बेपढ़ा लिखा आदमी है हत्यारा है कि उससे राम की कथा की संभावना नहीं राम की कथा किसी और ने लिखी होगी हाँ बाल्मीक के नाम से जड़ दी होगी ये भारत की पुरानी धारा है यहाँ व्यास के नाम पर इतनी किताबें हैं कि एक व्यक्ति लिख ही नहीं सकता और कोई किताब तीन हजार साल पुरानी कोई दो हजार साल पुरानी कोई हजार साल पुरानी कोई पांच हजार साल पुरानी तो व्यास लगता है मरे ही नहीं वो यही गोर गंदा करते रहे लेकिन व्यास केवल प्रतीक शब्द हो गया जिसको भी अपनी चीज चलानी होती वो व्यास के नाम से लिख देता व्यास का नाम जुड़ जाता कि इज्जत मिल जाती उस चीज को कचरा भी होता तो हीरा हो जाता इसलिए न मालूम कितने लोगों ने ब्यास के नाम से किताबें लिख के चला दी कोई कॉपीराइट तो था नहीं कोई कानून नहीं था कोई अदालत थी नहीं थी कोई छापे खाने नहीं थे आदमी हाथ से लिख लेता था तो तुम भी लिख सकते थे किताब उन दिनों और ब्यास का नाम लिख देते चल पड़ती किताब वाल्मीकि से संभावना कम है कि उन्होंने रामायण लिखी हो राम भी ना जप सके पूरा क्या रामायण लिखेंगे हाँ किसी ब्राह्मण ने लिख दी होगी और वाल्मीकि के नाम का उपयोग कर लिया होगा क्योंकि बाल्या भील मरा मरा जप कर बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया था शांत हो गया मौन हो गया उसकी कीर्ति फैल गई होगी वह ज्योतिर्मय हो गया था किसी पंडित पुरोहित ने लिख दिया होगा और सच तो यह है कि आज तक किसी बुद्ध पुरुष ने कोई किताब नहीं लिखी बुद्ध पुरुष केवल बोलते हैं लिखते तो ब्राह्मण न बुद्ध ने लिखी कोई किताब न महावीर ने लिखी कोई किताब न कृष्ण ने लिखी कोई किताब न जीसस ने न मोहम्मद ने किसी ने कोई किताब नहीं लिखी बोले लिखा किसी और ने अब जिसने लिखा है वो भी प्रविष्ट हो जाएगा वो अपनी धारणाएं डाल देगा अपनी मान्यताएं डाल देगा इसलिए ऋषिराज त्रिवेदी मैं तो सीधा सीधा देखता हूं अगर कथा में कहीं कोई भूल है तो मैं उसका विरोध करूंगा किसी ने लिखी हो किसी के नाम से चलती हो और राम और सीता की कथा में बहुत सी बातें हैं जो कूड़ा करकट जिनका कोई भी मूल्य नहीं आज